बना रहने दो तो फिर काम नहीं कर तो इसलिए यहाँ पर जो है अहिंसा ही चीज है अब देखो कौन लोग जो है वो सुखी कौन से हो गए इनका वर्णन करते हैं कि धर्म कला ज्ञान विज्ञान एक पंकज विधि विधि नाना धर्म के तलाग में ज्ञान विज्ञान के कमल खिल गए रंग बिरंगे कमल धर्म फैला अधर्म समाप्त हुआ पाप समाप्त हो धर्म का विस्तार हुआ और धर्म का विस्तार हुआ तो धर्म होगा तो एक बड़ा सुंदर देखो इसमें ये बात रूपक में आ गई सुझा दी वहीं पर कि ज्ञान विज्ञान के कमल कहाँ खेलते हैं धर्म के तला अगर कोई ये समझे कि हम धर्म को तो देख छोड़ और अधर्म में रहें और ज्ञान विज्ञान के कमल यहाँ खेल जाए हम अधर्मी होकर के विज्ञानी हो जाए हम पापाकरण दुराकरण करते हुए भी विपरीत मार्ग कर जीवन में चलते हुए भी ज्ञानी और विज्ञानी हो जाए तो क्या सूखे में धूल भरिया में कहीं समझ आ गया हाँ? कहीं जहाँ पर बंजर धूल में कहीं समझ आ गया तो उसके लिए सरोवर चाहिए जल जल में कमल होगा तो ये धर्म जो है वो इसलिए कहा कि देखो बिना धर्म के ये धर्म तो आधार है इसलिए जैसे मंदिर का नाम बोलते रहते हैं एक मंजिल दो मंजिल ऐसे अध्यात्म विद्या नीचे की मंजिल धर ऊपर की मंजिल परमार नीचे की मंजिल नहीं होगी तो ऊपर मंजिल का हो जाए अगर चलेगी सरोवर में नहीं होगा तो कभी कहाँ खड़ी जाएगी इसलिए कहते हैं कि धर्म कला विज्ञान विज्ञाना ये ज्ञान और विज्ञान ये ज्ञान विज्ञाना ये कहते हैं पंकज विकसे विज्ञाना ये सब कमल है एक चित्र में मने राम राज्य की स्थापना हो गई तो चित्र में धर्म के मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति हो गई और परमात्मा का परोक्ष रूप से परमात्मा का ज्ञान अपरोक्ष रूप से परमात्मा का ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान ये सब हृदय में आ गया सब दिखाई देने लगा अनुभव में आ गया सुख संतोष विराग विवेका हाँ, विगत कहीं को कहने का को ये पहले तो चतुर की बात कही थी ये कोक है कोक है चक्रवात ये कोक जो ये रात्र में है कोक और कोकी ये दोनों जो है रात्र में अलग अलग हो जाते हैं और दुखी होते हैं जब दिन होता है रात्र समाप्त हो गई तो मिल जाते हैं तो इनका शोक समाप्त हो जाता है रात्र भी दुखी रहते हैं तो विगत शोक ये को कहने का ये सब अनेक कोक है ये सब दिन में जो है ये हुआ तो ये मिल गए और सुखी हो गए क्या क्या शुभ संतोष विराज विवेका मन ये पढ़ने लगे भगवान राम के राज्य में सुख भी है संतोष भी है वैराग्य भी है विवेक भी है अब राम राज्य का जितना विस्तार से वर्णन कर रहे हैं उसमें देखो बार बार सुख की बात कहते नहीं सब लोग राम राज्य में सुखी हैं किसी भी शारीरिक रोग नहीं किसी भी रोग नहीं कोई घबरा नहीं कोई बिगाड़ नहीं सब सुखी सब सुखी बार बार सुख का वर्णन संपत्ति का वर्णन करके आए तो सुख भी सबको है और संतोष भी सबको है सबको संतोष के मैंने जितना उनको प्राप्त हो गया है वो समझते हैं कितना तो स्वर्ग भी नहीं कितना तो इंद्र के पास भी नहीं सब कुछ हमारे पास है और संतुष्ट है उसमें जो कुछ हमें प्राप्त हो गया संतुष्ट है अब जब वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था ही आध्यात्मिक है जहाँ पर की अर्थ के ऊपर पैसे के ऊपर जहाँ की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान से जा करके लागे कपड़ा लेने गया अगर असंतोषी हो और गाय के सब दुकान का सम्मान मुफ्त मिल रहा है ले जाओ जितना चाहो ले जाओ पर असंतोषी व्यक्ति वो तो क्या करेगा क्या कि सारी दुकान को हमारे छत पर लाद दो सब हम नीचे जा रहे हैं मुफ्त रहेगी तो हम तो कुछ नहीं असंतोषी व्यक्ति ऐसा करेगा लेकिन जब संतुष्ट होगा तो वो जानता है तुम्हें जितने कपड़े की जरूरत है उतनी कपड़ा ले लिया उसमें से गज दो गज चार गज दस गज बीस गज जितनी जात जो चलिए जिस प्रकार का हुआ उतना ले लिया है और बाकी अपने दुकान पड़ा रहने लो दूसरा आए तब ले जाए तो हमें क्या करना सबका सब ऐसी व्यवस्था जो संतोष की व्यवस्था होता भी है तो सुख संतोष संतोष भी अभिरास वैराग्य संतोष है ये संतोष का और वैराग्य का संबंध भी है दोनों का ये देखो और वैराग्य का सुख का भी संबंध है और संतोष का सुख से संबंध है अब इनके संबंधों को अपने आप जो ढूंढेंगे सब अपने आप मिल जाएंगे अब बताओ संतोष में सुख है कि संतोष में अपने आप समझ में आ जाएगा संतोष तो होगा वही सुख हो वैराग्य में सुख है कि राग में सुख है तो भी आप परीक्षा करके देखोगे तो वैराग्य में ही सुख है राग में सुख नहीं अटैचमेंट में राग में आसक्तियों में कोई सुख नहीं तो इसलिए सुख है तो उसके साथ साथ संतोष भी है वैराग्य है इसलिए सुख है और वैराग्य का है जब विवेक विवेक और वैराग्य का भी संबंध है अगर विवेक नहीं तो वैराग्य कहाँ से आ जाए विवेक के मैंने सत्य क्या है असत क्या है नित्य क्या है अनित्य क्या है ये अगर मालूम है तो जो अनित्य है उसमें वैराग्य और उसमें जो कुछ अनित्य वस्तु में जीवन धारण करने के लिए जो वस्तुएं प्राप्त है शरीर भी अनित्य और शरीर के साधन भी अनित्य और वो सब अनित्य में जो सभी साधन जितने से चल जाता है जितनी वस्तुओं से उतना पर्याप्त उससे ज्यादा क्या करना है ये संतोष है इसी प्रकार से एक दूसरे के संबंध भी देखने की आवश्यकता अपने आप अपने अंदर एक देखें कि विवेक का नाथ तो उसका क्या रूप है बैराग है तो उसका क्या रूप है तो दोनों का संबंध क्या है और सुख का इनसे संबंध क्या है ये इस प्रकार से विचार करके देखें तो कहते हैं अपने हृदय में राम राज्य की स्थापना हुई तो ये सब आ गए सुख भी होने लगा संतोष भी विवेक भी वैराग्य भी ये सब हो गए विगत शोक ये को कहने का इनका सबका सुख चला गया और ये सब प्रसन्न है सब सुखी है इस प्रकार अब और किनको किनको सुख हो गया इनका सबका विस्तार वर्णन नहीं करते इतने ही में बाकी अब समझ लेंगे आपकी रामराज की स्थापना हुआ तो जितनी निगेटिव टेंडेंसी थी वो तो एलिमिनेट सब झाड़ के फेंक देखे और जितनी पॉजिटिव टेंडेंसी थी उनकी सबकी स्थापना हृदय में हो गई भाई जीवन में भी समाज में भी जितनी लोगों की नेगेटिव टेंडेंसी थी वो सबकी सब ध्वस्त हो गई खत्म हो गई और सबके सब पॉजिटिव टेंडेंसी हो गई नेगेटिव टेंडेंसी में दूसरे व्यक्ति को दोष दोष दोष दोष देखना नेगेटिव टेंडेंसी उनके लोगों के गुण गुण गुण गुण देखना पॉजिटिव टेंडेंसी जहाँ बात बात में झड़कना विरोध करना हल्ला गुल्ला मचाना क्रोध करना नेगेटिव टेंडेंसी एक दूसरे से कॉपरेट करना सहयोग करना शांतिपूर्वक रहना पॉजिटिवनेस तो संक्षेप में कहिए <clears throat> बाहर भीतर की नेगेटिव टेंडेंसी समाप्त पॉजिटिव की स्थापना कहीं कहीं देखा जैसे गुरुदेव भी कभी कभी चर्चा बीच बीच में करते रहे प्राइवेट लोगों के बीच में बैठे हुए कोई कोई व्यक्ति आते थे उनके पास तो शिकायतें शिकायत लेकर के आते हाँ? उसने ऐसा कर दिया इसने ऐसा कर दिया ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं ऐसा बिगड़ गया वैसा बिगड़ गया ये हो गया एक बार कह गया दो बार कह गया दस बार अब कहीं ये तो कम्प्लेटिंग कम्प्लेनिंग पर्सनैलिटी है पर्सनैलिटी कम्प्लेन बस उसका काम नहीं बने जैसे कि एक उसका इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कम्प्लेन कम्प्लेन जिसमें से निकलती रहती है <clears throat> ये get a tendency, अभी कहते हैं कि देखो इस प्रकार से ये है <clears throat> जीवन के दो रूप हो गए साथ साथ एक अज्ञान जन्य जीवन का रूप और एक ज्ञान जन्य जीवन का रूप <clears throat> आध्यात्मिक ज्ञान के माने जो सत वस्तु सत दिखाई दे असत असत दिखाई दे जीवन का सही रूप सही दिखाई दे गलत रूप गलत दिखाई दे निगेटिव <clears throat> जो है वो साथ साथ दिखाई दे निगेटिविटी क्या है पॉजिटिव क्या है वो अलग दिखाई दे ये बात सब व्यक्ति को समझ में आवे और उसी प्रकार से जो सही मार्ग जीवन का चले सही विचार हो सही सिद्धांत हो सही जीवन का मार्ग हो इसी का नाम राम राज्य हाँ? तो आप कहते हैं ये प्रताप रवि जाके उर्ज करे प्रकाश तो अब कहते हैं देखो ये है प्रताप रवि जाके अब ये सूर्य ऐसा नहीं कि सूर्य पूर्व दिशा में निकल रहा है सवेरे खड़े उठ के देखो भगवान राम राज्य आने वाला है इधर से ये कहते हैं ये प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रताप जब जिसके हृदय में ये राम राज्य आवे और जैसे कि सूर्योदय होता है ऐसे भगवान राम जिसके हृदय में सूर्य की तरह से उदित हो जाए हाँ, और अपने हृदय में उसका प्रकाश छा जाए ज्ञान का प्रकाश छा जाए सदबुद्धि का प्रकाश आ जाए तो पछले बाणे प्रथम जय कहे कृपा वही ना तो बस कहते हैं जो बाद में कहे वो तो बढ़ने लगेंगे और जो पहले कहे वो नाश को पाएंगे पहले इसीलिए कह दिया कि जिनको दुख है उनको गिना दिया कि अविद्या नष्ट हो गई पाप नष्ट हो गए काम क्रोध समाप्त हो गए काल कर्म स्वभाव गुण इत्यादि खत्म हो गए मत्सर मान मोद समाप्त हो गए तो ये सब राम राज्य आएंगे समाप्त हो जाएंगे और फिर कहते हैं कि पिछले बारह बाद में जो कहे वो धर्म बढ़ेगा ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा सुख संतोष वैराग्य विवेक आदि बढ़ेंगे हम्म? तो ये सबके संबंध है ये ये राम राज्य का तात्पर्य है हम्म? तो इसलिए रामचरित मानस पढ़ना ये और अध्ययन इसका ये जो है ये ये कोई ऐतिहासिक कथा का वर्णन नहीं है इतिहास जैसा उसे पढ़ लिया ये तो अध्यात्म विद्या का ग्रंथ है और इसमें जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो हमारे अंतर में अपने आप के आंतरिक जीवन को बदलने के लिए है हमारा आंतरिक जीवन बदले यदि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को बदलने के लिए तैयार नहीं अपनी प्रवृत्तियों को बदलने के लिए तैयार नहीं तो फिर उसके लिए अध्यात्म विद्या बिल्कुल बेकार दुख हो गई अपने आप को बदलने को तैयार हो कि जैसा अध्यात्म विद्या सीखी उसमें कहा गया कि ऐसा नहीं ऐसा हो अब कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है अब अध्यात्म विद्या कहती क्रोध छोड़ो शांति प्राप्त करो और कहा नहीं हम क्रोध तो नहीं छोड़ेंगे चाहे बनी रहे अध्यात्म विद्या तो फिर अध्यात्म विद्या सीखने से क्या पढ़ने से क्या है बेकार समझना उसका तो मूलभूत सिद्धांत यही है कि जो कुछ जो कुछ सुनो अध्ययन करो उसके अनुसार अपने आप के जीवन को बदलो बदलने के लिए तैयार रहो बार बार रामचंद्र मानस को सुनते सुनते सुनते सुनते सत्संग करते करते बार बार अपने मन के ऊपर बुद्धि के ऊपर जो निगेटिव टेंडेंसी है उनके ऊपर हैमरिंग होगी बार बार उनको तोड़ा जाएगा बार बार नष्ट होंगे अहंकार उसको सहन नहीं करेगा अच्छा नहीं लगेगा अहंकार को हम क्रोधी हैं हमको बार बार क्रोधी कहा जा रहा है और क्रोध बड़ा खराब है तो बराबर उसे कहेगा कोई कोई लोग तो इसीलिए सत्संग में जाते ही कहते वहां क्या जाओ वहां तो बार बार जब देखो तो अहंकार की निंदा बार बार वहां जब जाओ तो वहां क्रोध की निंदा बार बार वहां जाओ तो वही कामनाओं की निंदा और हाँ? जो सुनते हैं तो बड़ा जीवन धटका के लगता है बड़ा खराब लगता है तो ऐसे खराब ऐसे सत्संग से क्या फायदा हमें दूर रहो इससे तो अच्छा है इसलिए कहते हैं कि देखो इनको सबको <clears throat> ये अपने आप को अध्यात्म विद्या सीख करके अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए परिवर्तन लाओ अपने आप में हम देंगे <clears throat> अब आगे देखिए दासन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा सुंदर पवन देखन गए अवतर कुसुम तो पल्लव नए जान समय तन काजिक आए तेज पुण्य गुणशील सुहाए ब्रह्मानंद सदालय लीना देखत बालक बहुकालीना रूप धरे जन चारो बेदा समदर्शी विगत विभेदा आशा बसन व्यसन ये दिन रघुपत चरित हो सुनि कहाँ रहे सनकादि भवानी जहाँ घट संभव मुनि मुनिबर ज्ञानी राम कथा मुनिवर बहुवर्णी ज्ञान जो निपाप कज में अरणी देखी राम मुनि आवत हर्षित दंड हर्षि दंडवत की स्वागत पूछती जपटी प्रभु बैठन का दीन दीन सियावर रामचंद्र जी है पवन सुत हनुमान की है अब आगे की कथा प्रारंभ प्रकार की बातें आ जाती हैं ये है भगवान राम का सूर्य रूपी प्रकाश उत्पन्न हुआ और ये अपने हृदय में ये परिवर्तन आया और ऐसी शांति आ गई तो ये सब सिद्धांत की बातें आ जाती हैं शिक्षा की बातें आ जाती हैं तो सुनते सुनते भी व्यक्ति को नींद आने लगती है तो कथा शुरू करते सीधी क्या तो कथा सुनो अच्छा कथा सुनेंगे तो आगे तुम नहीं क्या कथा बराबरी की है और कथा ये भ्रातन सहित राम एक बार एक बार की कथा आपको सुनाते हैं एक बार भगवान श्री राम जी अपने भाइयों को साथ में लेकर के और स्वयं परम प्रिय हनुमान जी भी बड़े प्रिय हैं उनके इसी प्रकार से उनको भी साथ में लिया और लेकर के सब लोग माने भगवान राम भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी साथ में हनुमान जी ये पांच लोग जो है वो राजभवन से निकले और निकल करके उपमन में आए मन मैंने बगीचा था ही अपने राजभवन के सामने उस बगीचे में घूमने निकले देखने निकले कि बगीचे में कहाँ कहाँ कैसे कैसे फूल लगे हुए हैं बगीचे में जैसे घूमने जाते हैं जैसे घूमने निकले एक बार तो उस दिन क्या हुआ सुंदर उपवन देखने गए सब तरह के समित पल्लव नए तो भगवान ने देखा वहां जा करके वाह खूब खूब नए नए खूब पत्ते निकले हुए हैं खूब फूल खिले हुए हैं मोर लगे हुए हैं फल लगे हुए हैं ये सब बगीचे में देखा बगीचा बहुत सुंदर है सब प्रकार से इस प्रकार वह सजाया है सब साफ सुथरा है सब बहुत बढ़िया अच्छा दिखाई दिया उसी समय जो देखा भगवान ने कि सब घोड़े गुंजार रहे हैं पक्षी भी बहुत अच्छे बोल रहे हैं कृष्ण भगवान ने देखा बड़ा सुंदर बगीचा है प्रसन्न हुए भगवान देख करके बगीचे घूमते अच्छा लगा इसी समय ये सब देखते ऐसे भगवान घूम रहे थे तो फिर शनका भी तो रोज आते रहते थे आज शनका भी खड़ा गए तो कहते हैं जाने समय शनका शनकादिक आए आज शनकादिक मैंने सनत सनंदन सनातन सनत कुमारी चारों भाई वहाँ उसी समय बगीचे में आए जहाँ भगवान जो हम गए थे वहीं पर आ गए पहले कह आए हैं जब नगर का जहाँ वर्णन किया था तो कहा देखो नारद जी शनका जी ये लोग अयोध्या में आते रहते हैं और देखते हैं कि बहुत सुंदर बगीचा है बहुत सुंदर नगर है बहुत सुंदर सरयू है ये सब आते देखते रहते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे माने वहाँ का हाथ तो रोज रोज आते रहते थे हम्म, अब यहाँ कहते हैं कि जाने समय सनकादि के आए ऐसा लगता है कि जब भगवान जन्मे गए तो उसी दिन आए ऐसा नहीं है वैसे दो प्रकार का आना था इन लोगों का एक तो ऐसा आते तो रोज थे और रोज आते थे अपने दूर से भगवान के दर्शन करके अयोध्या होकर के अपने लौट जाते भगवान के सामने आकर के उनका आदर सत्कार भगवान के सामने जाएंगे तो देखो भगवान कैसा उनका सत्कार करते हैं तो उनसे रोज रोज सत्कार नहीं लेते थे दर्शन करते मैंने ये भगवान ने अवतार लिया है तो अवतार रूप में भगवान के दर्शन करके अपने चले जाते आज इन्होंने देखा कि भगवान जो है राज्य कार्य इत्यादि में नहीं है राजभवन में नहीं है दूसरे काम में नहीं लगे हुए हैं बगीचे में टहल रहे हैं फुर्सत में हैं तो इनको लगा कि आज हाँ, चलो भगवान से मिल भी है तो आए थे ही उनसे मिलने लगे जान समय सनकादि के आए समय जान करके कि मैंने अवसर देख करके ये समय भगवान मिलने का समय इनका है मिल सकते हैं तेज कुंज सील सुहाये ये देखो संकालिक कैसे थे उनका वर्णन करते हैं ये बड़े तेजस्वी थे गुण निधान थे शिव निधान थे ऐसे ये सब के सब चारों भाई थे माने ये सब तपस्वी ऋषि हैं ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सब ज्ञान निधान है पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में स्थित है सदा उसी का चिंतन रहते हुए सदा आनंद में मुक्त जीवन जीते हैं तो उनका वर्णन करते हैं देखो संकाल कहते हैं तुलसीदास जी की भाषा में समझो पहले तो तेज पुंज पहले तो दूर से देखो इनको चारों भाइयों को तो तेजस्वी दिखाई देंगे फिर और देखो तो बस गुण और शील इत्यादि उनके ध्वनि दिखाई देंगे और फिर और सावधानी पूर्वक अगर उनसे चर्चा हो कहीं सुनो है ज्ञान वगैरह की बातें तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मानंद सदा लेना ये तो सदा ब्रह्म के आनंद में ही रहने वाले हैं तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं तो पहले दूर से वर्णन करते हैं कि दूर से जैसे कोई व्यक्ति दिखाई दिया निकट गए तो और विशेषता उसकी डिटेल्स दिखाई दी और पास गए तो और भीतरी बातें समझ में आई ऐसे वर्णन करने का तरीका इनका तो पहले तो उनके सुंदर स्वरूप का आकर्षक रूप का वर्णन किया फिर उनके गुणों का वर्णन किया फिर उनके आंतरिक ज्ञान का वर्णन कहते ब्रह्मानंद सदा लेना देखत बालक बहुत का देखने में तो बालक जैसे लगते हैं लेकिन बहुकाली नवन बहुत काल के मैंने बहुत आयु इनकी है रूप धरे जन चारियो वेदा बस ऐसा लगता है कि मैंने चार वेदों ने ही चार ही रूप धारण कर रखे तो इससे तुलसीदास की ऐसी बात बोल करके प्रतीकों का स्पष्टीकरण करते हैं तुलसीदास जी समझते हैं कि संकालिक जो चार नहीं ये ये चार वेदों के ही रूप है मैंने जैसे वेद का जो ज्ञान है वो मानव सनत कुमारों में साक्षात हो गया है वो सदा ब्रह्म के ज्ञान में स्थित रहते हैं समस्त वैदिक ज्ञान के मूर्तिमान रूप ही है इसलिए वेद स्वरूप वेद स्वरूप है वेद तो वेद है वेद तो ज्ञान है चारो वेद में जुड़े सर्वेद लेकिन अब ये संकारी क्या है उन्हीं वेदों के ही रूप है मूर्तियां के लिए तो रूप धरे जन चारू वेदा अपने चारों वेदों ने ही रूप धारण कर लिया कि शरद कुमार दिखाई देने लगे उनके प्रतीक हो गए और समदर्शी मुनि विगत विभेदा और तो ये समदर्शी है विगत विभेद अब देखो ज्ञान का ये लक्षण है अब पहले तो बता दिया कि कैसे सनत कुमार और फिर ये बता दिया कि ब्रह्मानंद में मग्न है ज्ञान और इनको सबका इनका वैदिक ज्ञान के मूर्तिमान रूप है और व्यवहार भी क्या देखते हैं ये कि समदर्शी ये बात बार बार आती रहती है जब राम राज्य का वर्णन किया तो तुलसीदास जी को राम राज्य में सबसे पहली बात यही दिखाई दी कि संतुष्टि दिखाई दी मैंने राम राज्य का भी मूल आधार ये परमात्मा का ज्ञान हो और व्यक्ति का जो है उसमें जो है वो परमात्मा में भक्ति हो ये सब हो तो उसमें जो है संतुष्टि आनी चाहिए राम राज्य का आधार मूल आधार जो मुख्य उसका जड़ है वो हो संतुष्टि और समृष्टि को की अवहेलना करके कोई राम राज्य की कल्पना करे और उसकी निंदा करे तो एक अंग्रेजी में कहावत है call is of mat and क्या मत हुआ कि जिस कुत्ते को मार रहा हो अरे पागल है पागल है पागल है मार दिया क्यों मार दिया अरे तो पागल हम्म? ऐसी करके रामराज बहुत खराब है क्यों कितना बड़ा भेदभाव है होता ये क्या है भेदभाव पास आ गया जिस राम जी की मूल जड़ अभेद है समृद्धि है किसी दिन आपने भेदभाव आरोपित करके और उसको नाश कर दिया अब जो जिसकी जो बुद्धि आप उनसे बहस करो अरे काली सब करने की बात है होगा कहाँ है हो ही नहीं सकता हो नहीं सकता अब नहीं हो सकता उनकी बुद्धि में असंभावना छाई हुई है तो फिर उसके कारण से बैठ करके रोज प्रकार ठीक करते तो समदर्शी मुनि का कहते हैं जो है सब मनुष्य सभी समदर्शी हैं और इनमें विगत विषय भेद बुद्धि नहीं है अब इस राम इसमें गीता में भी आप देखेंगे भगवान ने बड़ी कोशिश की है अभेद बुद्धि लाने के लिए समस्त बुद्धि लाने के लिए बहुत कोशिश की है और लोग जो समस्त बुद्धि की जहाँ बात आती है जहाँ उसके तात्पर्य को समझने में परेशान होते हैं घबराते हैं विद्या में संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तनी सुनी चाहिए चय पंडिता समदर्शिना और जहाँ समदर्शी की बात आ गई तो इसे पाठ लगाना मुश्किल पड़ता है क्योंकि जिनकी भेद बुद्धि है उसमें जिसकी समृद्धि बुद्धि में आई नहीं किसी लोग का लगाऊ तो कैसे लगाना भेद बुद्धि से अधिक अर्थ कैसे लगेगी उसका श्लोक का तो कहते हैं ये है समदर्शी मुनि विगत विभेदा इनमें कभी किसी का इनमें से इनकी भेद बुद्धि नहीं है किसी आता वसन व्यसन ये से नहीं देखो ये संतों का ऋषियों का अपने भारतीय संस्कृति का उज्जवल व्यक्तित्व का ये है उसका वर्णन करते हैं पहले तो पहले जो तो भगवान भगवान है साथ उनकी बराबरी कौन कर सकता है भगवान राम तो भगवान है हम कौन उसकी बराबरी कर सकते हैं छोड़ अच्छा उनकी बराबरी न करो तो सनत कुमारों की करो और भी कुछ तो दूसरे बहुत से पर्सनैलिटी है अपने इसमें देखो उनका उनका भी कुछ तो व्यक्तित्व का सामने रखा है तो उनको देखो उनमें से किसी का तो अनुसरण करो किसी को तो आदर्श बनाओ कि ऐसे तो हम हो सकते हैं तो कहते हैं आशा बसन बसन ये तो नहीं अब देखो आशा बसन बसन वन वस्त्र पहनते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि कपड़े का जरा लपेट दिया पहन लिया वो जितनी बड़ी दिशाएं अनंत दिशाएं हैं वो सब रहते हैं मैंने क्या हुआ नग्न रहते आशा बसन और व्यसन योजन और व्यसनी भी है लोगों को जैसे व्यसन और तरह तरह की आदतें पड़ जाती है किसी को खाने के लिए मिठाई खाने की आदत पड़ गई किसी को चटपटा खाने की आदत पड़ गई तो ये व्यसन हाँ? हो गया किसी के ताश खेलने का व्यसन हो गया किसी के लसीन दूध खाने का व्यसन हो गया और किसी को उपन्यास करने का व्यसन हो गया हाँ? ऐसे तरह तरह के व्यसन हो जाते हैं दुनिया में जिनको व्यसन क्या बात का चाहे रघुपत सरित हो कहा से तो नहीं जहाँ कहीं भगवान की में गाथा चरित्रों का वर्णन होता है बस बस वहाँ पहुँचते बस उसी को सुनते देखो ब्रह्मानंद सदा ले लीला और रघुपति चरित्र हो कहाँ समझ ली दोनों बैठा लो मान ये ब्रह्मानंद सदा ले लीला है तो रामकथा का कोई मतलब नहीं रामकथा सुनते ही सुनाते ही एक जगह ये भी वर्णन आता है कि सनत कुमार क्या करते हैं जब रामकथा कभी नहीं हो रही है तब क्या करें तो चार से है ये अकेले के तो नहीं चार में से एक खाली कटक के ऊपर तीन बच के नीचे और कहा सुनाओ तो इन्हें सभी सुन ली बहुत तो सुनाने लगा तीन तो सुनने लगे थोड़े आगे चले दूसरे गांव पहुंचे दूसरे शहर में पहुंचे अब कोई कथा वहां भी नहीं हो रही है तो चार में से एक दूसरे से कहा आप सुन बैठो हम तीन सुने अब इससे समझ नहीं क्या करना चाहिए सारा सत्संग होते हैं कहाँ जाए तो क्या करो संत कुमारों क्या करो सारी युक्तियां शास्त्र में बता दी सारी युक्तियां कोई थोड़ा नहीं जाए रहे भवानी जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी रवि यहाँ साफ करेंगे कि अभी संभव कुंडल के पास से आ रहे अगस्त मुनि के पास वही अगस्त मुनि एक बार से श्वेता जमानी शंभुदय कुंबल सिपाही गई कुंडल इन्हीं के पास कनक कुमार जी गए और वहां गए तो वहां क्या होता वहां बस वही जो शंकर जी के साथ में हुआ था उन्हें अगस्त ऋषि ने शंकर जी को भगवान राम की कथा सुनाई और फिर अलग तरीके ने पूछा कि भगवान शंकर जी आप आए कृपा करो किताब जी उपदेश करो तो शंकर जी ने फिर उनको भक्ति सुना दी कि भक्ति किसे कहते हैं इसका राशि क्या है तात्पर्य भक्ति का क्या है ये तो शंकर जी ने सुना दिया ऐसे करके ये सनत कुमार अगस्त ऋषि के पास गए थे कहाँ रहे शनकार भवानी भवानी के मैंने मैंने कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं तो भवानी संबोधन है ये पार्वती जी मैंने पार्वती जी को भी याद आ गया है इस बार कहा जाएंगे और उसके बाद क्या हुआ था तो कहा रहे संकार भमाने और जहाँ से संभव मनी मनिवर ज्ञाने जहाँ पर कुंभरी सगत थे यहाँ संस्कार राम कथा मुनिवर बहुवरणी मुनिवर अगस्त भगवान की कथा सुनाने बड़े प्रेम है बड़ा अच्छा लगता है उनको तो उन्होंने भगवान की कथा उनको सुनाई सनत कुमार और वो कथा कैसी ज्ञान गौन पावत बिनारणी ये राम कथा की महिमा जगह जगह तुलसीदास से सुनाते रहते हैं तो इसलिए बात यहाँ बताते जैसे बालकांड में कहा राम कथा सुंदर तरकारी संशय जगो रामनहारी ये राम कथा की महिमा राम कथा सुनते रहो सुनते रहो तो संशय रूपी पक्षी उड़ जाएंगे अब संशय के पक्षी जो पेड़ बड़े रहते हैं संसद पक्षी हमारी बुद्धि में जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से उन्हें जहाँ राम कथा सुनी संसद से लोग संशय रह जाएगा ऐसे ही कहते हैं कि जहाँ राम कथा सुनते हुए संसद बने अध्यात्म विद्या के संबंध में कोई संशय नहीं रह जाए परमात्मा क्या जीव क्या है जगत क्या है जन्म क्या है मृत्यु क्या है पुनर्जन इत्यादि क्या होता है कैसे बंधन है क्या छुटकारा है कितने सुख है कितने अज्ञान सारे प्रकार के जितने भी प्रश्न है सबका समाधान मिल जाएगा उसमें संशय कोई नहीं रहेगा ऐसे यहाँ कहते हैं ज्ञान जो पार्वती बीमारी नारायणी कुछ लोग समझते हैं कि राम कथा भक्ति प्रदान करने वाली सुनेंगे तो भक्ति आ जाएगी अरे भक्ति तो आ जाएगी तो बहुत बाद में आ जाएगी उसके पहले से प्राप्त हो जाएगा ज्ञान ज्ञान प्राप्त होने में तो देर नहीं लगेगी और ज्ञान आ जाएगा और उसी ज्ञान में जब स्थापित हो जाए तो भक्ति भी आ जाएगी इसलिए कहते हैं ज्ञान जोन बाबत ये कथा जो है उसी प्रकार से ज्ञान की योग है जिस प्रकार का अनुमंथन लकड़ी लो और लकड़ी की अग्नि बनाओ नीचे एक चारा बनाओ ऊपर एक चारा बनाओ बीच में लकड़ी का दंड लगाओ और उसमें लगा करके रस्सी बांध करके उसको घुमाओ तो जब लकड़ी लकड़ी पर रगड़ेगी तो उसमें से अग्नि निकलेगी क्यों निकलेगी अभी क्योंकि लकड़ी में अव्यक्त रूप से अग्नि की डिमांड है हम्म, वो प्रकट हो जाएगी इसी प्रकार से रामचरित मानस में भगवान की कथा में जैसे लकड़ी में अभी हो इसी प्रकार से राम कथा में ज्ञान भरा हुआ है अभ्यास करते रहेंगे अभ्यास करते रहेंगे बार बार सुनते रहेंगे तो उसमें से ज्ञान निकल पड़े पड़ेगी समाने लगेगा आपके हृदय में प्रकाश आ जाए और जो लोग रामचर के मानस से डर मानेंगे अरे कहेंगे तो, तो पुरानी बातें हैं अरे उनमें क्या धरा है अरे उनमें क्या धरा है उसके पास मिल जाएंगे और उसका मंथन नहीं करेंगे अभ्यास नहीं करेंगे तो बस वो ज्ञान से वंचित रहेंगे ज्ञान हो नहीं इसलिए मैं ये कहकर के लिए दिखाते हैं कि हम सिर्फ मानव का बार बार अध्ययन करते रहना चाहिए बार बार स्मरण करते रहना चाहिए बार बार बोलते रहना चाहिए सबके लिए राम रामचरित मानस सुनने कहने के लिए किसी आज बालकान में भी गया जो यही तो कथन समय समय का कहीं सुनिए समझ सकेता राम चरण अनुरागी कलमल रहित सुमंगल भागी कलयुग का जो प्रभाव है ये जिसके कारण से सब लोग संतप्त हो रहे हैं उससे तो छुटकारा पाने का उपाय ये है कि भगवान की बात में सुनाओ देवी कथन समय का कवियों सुनिए धन्यवाद आदि कहो कि भाई सुनने की जानने मिलती तो क्या करें सुनने सुनाने वाला नहीं मिलता तो क्या करें क्या करें अरे नहीं मिलता नहीं मिले सुनाओ और कोई सुनाने वाला तो